प्रिय पू बन वन पगु धारे हे मोगणे भगमारे देवका हुमहि गुसाए इन्धन पात किरात मिताई बड़ बका देहिन बासन बसन चुराई हम जड़ जीव घाते कुटिल कुचाले कुमति कुजाती आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है हे स्वामी हम आपको क्या देंगे भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों ही तक है हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते हम लोग जड़ जीव हैं जीवों की हिंसा करने वाले हैं कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं हम पाप करत से बासर जाहे नहीं पट कटे नहीं पेट घे सपने धर्म बुद्धि कस काओ यह रघु प्रभा जबते प्रभु पद पदु मिटे दुसह दुख दोष रे बचन सुनत पुर जन अनुरागे जिनके भग सराहन लागे हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे लगे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वही बोलन मिलन सिय राम चरण सनेह लख सुख पावही नर नारी निद रही नेहु निज सुनिकोल भिल्लन के गिरा तुलसी कृपा रघुवंश मन के लोहल लोका तिरा सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनने लगे उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं उन कोल भीलों की वाणी सुनकर कभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं उसे धिक्कार देते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया बिहरही बन चहु ओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब जल जोदार दुर्मोर भय पीन पावस प्रथम सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं जैसे पहली वर्षा के जल से मेढ़क और मोटे मोटे हो जाते हैं प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं अयोम पुरजन नारे मगनयत प्रेते बासर जाहे पलक सीय सासु सुप्रति देश बनाए फादर करहे सरिस सेवकाए लाम लखान मरमु राम रम राम बिन काहु माया सब से माया माहू सीय सासु से वाबस के तिन लहि सुख सिख आशीष दीनी अयोध्यापुरी के पुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं जितनी सासुएँ थी उतनी ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती है श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है सीता जी ने सासुओं को सेवा में वश कर लिया उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए लखसी सरल दो भाए कुटिल रानी पछे तानिय घाये अवनि जमहि जाल चतके के महिन बेचु बिधु नीचु न दे लोकहु बेद विदित कवि राम विमुख थनु नर कन लहे यह संसव सब के मन माहे राम गवन विधि अवध सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कई कई भरपेट पछताई वह पृथ्वी तथा यमराज से जाचना करने करती हैं किंतु धरती बीज फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता लोक और वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं निसदीम निसि नहीं भूख दिन भरत बिकल सुच सोच नीच कीच बिच मगन जस में नहीं सलील सकोच भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख ही लगती है वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी ही मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है